परम करुणामयी राजराजेश्वरी राजेश्वरी भगवती श्री दुर्गा की उपासना के इन पावन दिनों में उन्हीं की अनुकंपा से हम सबको उनकी करुणामयी रूप का शरणागत वत्सलता का चिंतन और श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है संत महापुरुषों की पावन सन्निधि में और स्वयं चिन्मय भगवान और चिन्मयी भगवती की पावन उपस्थिति में आए माँ के स्वरूप का चिंतन हम सब श्रवण करें उसके पहले माँ के नामों को एक दो बार दोहरा दें